बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 24 आत्मिक विस्फोट की पात्रता भाग दो मुझसे लोग आके पूछते हैं कि कब तक ज्ञान होगा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कब तुम निन्यानवे डिग्री पे आओगे अब तक कोई थर्मामीटर इसकी जांच का नहीं क्योंकि ये कोई शरीर की गर्मी नहीं जिसको नापा जा सके ये चेतना की गर्मी है चेतना की उष्णता है उसको ही हमने तप कहा है तप का अर्थ है गर्मी लेकिन भीतर की गर्मी शरीर से बिल्कुल नहीं नापी जा सकती और उसके नापने का अब तक कोई उपाय नहीं कभी भी नहीं होगा क्योंकि चेतना अमाप है मेजरेबल नहीं है तो कोई उपाय नहीं जिससे हम नापे नापें कोई तराजू नहीं कोई इंच फिट नहीं जिससे हम नापें कुछ उपाय नहीं है और फिर डर यह भी है कि निन्यानवे डिग्री से भी कई बार लोग वापस लौट जाते वापस लौट सकते निन्यानवे डिग्री तक से निन्यानवे डिग्री तक से पानी फिर ठंडा हो सकता है सौ डिग्री हो जाए तो भाप बन जाता है फिर लौटना मुश्किल हो जाता असंभव हो जाता क्रांति घट गई जब तक क्रांति नहीं घटी कई बार तुम निन्यानबे डिग्री से होकर लौट आते उबलते हो और फिर कुनकुने हो जाते हो फिर ठंडे हो जाते तुम्हारी जिंदगी में तुम भी जानते हो कई बार ऐसी घड़ी आती है कि कून जाओ कून जाओ बिल्कुल आखिरी घड़ी आ जाती फिर कोई छोटी सी बात और तुम अपने को फिर संभाल लेते हो वो संभाल लेना शत्रुता है तुम समझते हो तुमने होशियारी की और अपने को बचा लिया बचाने में ही भूल हो गई ये जेन साधक बंजान साधक था एक बात ध्यान रखना और दूसरी बात बड़े मजे की है बाजार से गुजर रहा था क्योंकि जेन कहता है पूरा संसार बाजार है भाग के तुम कहीं जा ना सकोगे हिमालय पे भी चले जाओगे तो भी बाजार से छुटकारा नहीं तुम जहां भी रहोगे बाजार रहेगा बाजार तुम्हारे भीतर है इसलिए भागना मत भाग के कोई सार नहीं समय मत खोना भाग के जाओगे भी कहां जो लोग भी भागते हैं वो वहीं पहुंचते हैं जहां से भागे थे एक बहुत पुरानी सूफी कथा है कि एक आदमी सुबह सुबह उठा और उसने अपने नौकरों को कहा कि मेरे घोड़े को ले आओ बस अब बहुत हो गया यहां मैं बहुत दुखी हूं इसलिए अब मैं यहां से दूर चला जाना चाहता हूं फार अवे फ्रॉम हियर नौकर ने कहा मालिक घोड़ा तो मैं तैयार कर दूं लेकिन डेस्टिनेशन मंजिल क्या है कहां जाना चाहते उस आदमी ने कहा तुम समझे नहीं मंजिल यही है यहां से दूर चला जाना चाहता हूं यही मेरी मंजिल है यहां से दूर वो नौकर कोई साधारण नौकर न था वो एक साधक बल्कि एक सिद्ध पुरुष था सूफियों का ऐसा ढंग है कि सूफी अपने को छिपाते हैं वो अपने को जाहिर नहीं करते तो कोई चमहार की तरह छिपा रहता है कोई नौकर की तरह कोई गांव में बबरची का काम करता है कोई बाजार में सामान बेचता है सब्जी बेचता है सूफी प्रकट नहीं करता है उसके शिष्य भी होते हैं तो तुम उनका पता नहीं लगा सकते क्योंकि उस वो चम्हार की दुकान पर बैठ के शिष्य भी चम्हारी का काम करते हैं दिन भर रात को उनको पाठ दिए जाते हैं दिन भर वो संसार से छिपे रहते हैं क्योंकि सूफी विचारणा कहती है कि संसार में इतने उपद्रवी लोग हैं कि अगर उनको ये भी पता चल जाए कि तुम शांत हो रहे हो तो वो सब तरह के उपाय करेंगे कि तुम शांत ना हो पाओ तो उन उपद्रियों को अकारण मौका नहीं देना उनको अगर ये भी पता चल जाए कि तुम शुद्ध हो रहे हो तो वो तुम्हें अशुद्ध करने के सब उपाय करेंगे क्यों क्योंकि तुम्हारे शुद्ध होने से उनके अहंकार को चोट लगती कि तुम शुद्ध हो गए और हम ना हो पाए तुमने समझा क्या कि तुम संन्यास ले लिए और हम ना ले पाए खींच के टांग तुम्हें वापस जगह पर ला देंगे हर जगह उनके मन में प्रतियोगिता है इसलिए सूफी छिपाते हैं इसलिए सुखियों का पता लगाना तुम्हें मुश्किल है जब तक तुम्हारे पास आंख और कुंजी ना हो जब तक तुम्हें कोई कुंजी ना दे तुम सूखियों का पता ना लगा सकोगे क्योंकि वो जिंदगी में साधारण वो असाधारण हो के नहीं वो बिल्कुल जिंदगी के सामान्य हिस्से हैं बाजार में बैठे बाजार से भागते भी नहीं और उनका कहना है कि जो होना है वो बाजार में ही हो जाएगा क्योंकि परमात्मा भी बाजार में और बाजार परमात्मा में इसलिए तुम कहां भागे जा रहे हो और जिसे तुम यहां ना पा सकोगे उसे तुम वहां कैसे पाओगे और एक बड़े मजे की बात है कि तुम जहां भी पहुंच जाओगे वहीं यहां हो जाएगा तो उस आदमी ने कहा कि मैं यहां से दूर निकल जाना चाहता हूं उसके नौकर ने कहा मालिक तब बड़ा मुश्किल है मैं कितना ही तेज घोड़ा ले आऊं आप यहां से दूर ना निकल पाएंगे क्योंकि आप कहीं भी पहुंचेंगे वहीं यहां होगा जाओगे कहां तुम जहां पहुंचोगे वहीं यहां होगा उस मालिक ने कहा कि यह मैंने कभी समझा ना था कि तू कोई बड़ा दार्शनिक है तू बड़ी ऊंची बातें कर रहा है तो उससे मैंने कहा तू घोड़ा संभाल के ला तैयार कर और रास्ते के लिए सामान भोजन पाथे जुटा उस नौकर ने कहा यह और भी मुश्किल है मालिक की यात्रा पर जाए तो ठीक लेकिन यह यात्रा ऐसी है कि यह अंतहीन है इसमें प्रोविजन कोई पाथे नहीं ले जाया जा सकता सब चुप जाएगा आप कभी पहुंच ही नहीं सकते ऐसी जगह जो यहां ना हो आज तक दुनिया में वहां कौन पहुंचा जहां जाओगे वहीं यहां हो जाते जो तुम्हारे लिए अभी वहां है पहुंच के यहां हो जाएगा तुम जहां बैठे हो दूसरे लोगों के लिए वो जगह वहां है तुम्हारे लिए यहां है उस नौकर ने कहा no one can go away from here यहां से दूर कोई नहीं जा सकता और जाना हो मर्जी लेकिन पाथे मत ले जाओ क्योंकि कितना ही पाथे साथ हो कितना ही खाना ले जाओ वो सब चुक जाएगा मंजिल तो कभी आने वाली नहीं है आ ही नहीं सकती ये रास्ता लंबा ही नहीं है अंतहीन है बाजार से भाग के तुम हिमालय जाना चाहते हो तुम यहां से भाग के वहां जाना चाहते हो तुम वहां पहुंचोगे नहीं तुम ही बाजार हो तुम्हारे भीतर बाजार भरा है तुम जहां भी जाओगे तुम वहां बाजार खड़ा कर लोगे अगर तुम्हारे भीतर लोभ है और हिमालय में तुम बैठे हो पहाड़ पर एकांत और एक हीरा पत्थर तुम्हारे सामने पड़ा होगा तुम जल्दी से अपनी गुदड़ी में उसे उठा के छिपा लो या कि तुम उसे पड़ा रहने दोगे अगर हिमालय पे तुम हीरे को पड़ा रहने दे सकते हो तो यहां दुकान में बाजार पर बैठ के तुम्हारी क्या चिंता है अगर लोभ नहीं तो बाजार यहीं खो गया और अगर लोभ है तो तुम जहां जाओगे वहीं बाजार होगा तुम बैठोगे तो जरूर हिमालय पर लेकिन सोचोगे तुम यहां की जहां से तुम आ गए हो मन पीछे जाएगा या आगे जाएगा तुम फिर सोचोगे कि दुकान फिर चलानी लौट कर अब की बार वैसी भूल नहीं करेंगे जैसे पहले की फिर घर बसाना है पहले गलत पत्नी चुन ली थी अब ठीक पत्नी चुन लेंगे सुख नहीं मिल सका क्योंकि स्थिति गलत थी अब स्थिति बदल लेंगे इसी ढंग से तो तुम इतने जन्मों से चले आ रहे हो हर जन्म में तुम यही सोचते हो अगले जन्म में सब ठीक कर लेंगे इस बार भूल हो गई आगे ना होगी लेकिन फिर तुम वही भूल करते हो क्योंकि तुम वही हो तो तुमसे वही भूलें निकलती हैं जिससे वृक्ष से वही पत्ता निकलता है जो उसमें छिपा है जेन साधक बंजान बाजार से गुजर रहा था और एक कसाई और एक ग्राहक की बातचीत उसके कानों में पड़ी और बड़ी अजीब जगह खड़ा था कसाई की दुकान थी कोई सोने चांदी की दुकान होती तो हम समझ भी लेते कि वहां निर्वाण घट गया कसाई की दुकान के पास खट जिंदगी बेबूझ कसाई और एक ग्राहक की बातचीत का टुकड़ा उसके कानों में पड़ा ग्राहक ने कहा सर्वश्रेष्ठ मांस का टुकड़ा मुझे देना जो भी खरीदने निकला है वो सर्वश्रेष्ठ की मांग करता है खरीदार का मन श्रेष्ठ की मांग करे ये स्वाभाविक है मांग ही सर्वश्रेष्ठ की होती और इसलिए हर मांग दुख में ले जाती क्योंकि तुम मान भी नहीं पाते कि तुम देखते हो उससे भी श्रेष्ठ कहीं ज्यादा मौजूद है दुख फिर शुरू हो जाता हीरा हाथ में भी नहीं आता कि बड़े हीरे दिखाई पड़ने लगते पद मिल भी नहीं पाता कि उदासी छा जाती मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन विवाह किया तो जिस दिन उसके विवाह का समारंभ हो रहा था उसके रिश्तेदारों ने देखा कि वो बड़ा उदास है और जैसे कुछ खो गया हो उसकी आंखें कहती कि जैसे वो कुछ खोज रहा है तो उसके एक मित्र ने कहा कि क्या कुछ खो गया है कहीं विवाह का छल्ला तो नहीं खो दिया तो नसरुद्दीन ने कहा कि छल्ला तो उंगली में है लेकिन तुम पूछते ठीक हो कुछ खो जरूर गया है विवाह का उत्साह खो गया है और कल तक ये दीवाना था इस स्त्री को पाने के लिए सुमित ने पूछा लेकिन कल तक तुम पागल थे और हम सोचते थे तुम्हारी खुशी का कोई अंत ना होगा उसने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन आज समारोह में जो अनेक स्त्रियां आई उनमें कई इससे भी पहुंची हुई इससे ज्यादा सुंदर है ये स्त्री अभी ही फीकी हो गई अब मैं डर रहा हूं कि आगे क्या होगा पहुंच भी नहीं पाते कि रस खो जाता है क्योंकि आंखें श्रेष्ठ की खोज कर रही जब तक आंखें तुलना कर रही तब तक हमेशा यही होगा उत्साह खो जाएगा पहुंच नहीं पाए तो उत्साह खो जाए मंजिल मिले नहीं कि दुखी हो गए इसलिए लोग कहते हैं कि इंतजारी में मजा है वो ठीक ही कहते हैं वो ठीक इसलिए कहते हैं कि जब तक इंतजार है तब तक तुम एक चीज में उलझे रहते हो जैसे ही मिलना हो जाता है आंखें और तरफ घूमने लगती तत्क्षण गरीब को जो मजा है धन में वो अमीर को नहीं क्योंकि गरीब के लिए धन उपलब्धि नहीं अभी इंतजार है अमीर के लिए धन मिल गया धन में अब कोई रस नहीं है वो कुछ और चाहता है कुछ और ज्यादा है ग्राहक हमेशा श्रेष्ठ की मांग कर रहा है ग्राहक ने कहा सर्वश्रेष्ठ मांस का टुकड़ा ही मुझे देना उससे कम पे मैं राजी नहीं हूं मन कहता है श्रेष्ठ श्रम चाहिए उससे कम पर मैं राजी नहीं हूं कसाई बोला मेरी दुकान में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही है बड़ा अद्भुत कसाई है उसने बात परम ज्ञान की कही मेरी दुकान में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही है यहां कुछ भी नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ ना हो बस इतना सुन के बंजान ज्ञान को उपलब्ध हो गया अब ये भी कोई बात है और ये भी कोई जगह है जहां ज्ञान को उपलब्ध हुआ जाए ठीक है समझ सकते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए बोधि वृक्ष समझ में आता है लेकिन कसाई की दुकान के सामने कसाई की दुकान बोधि वृक्ष बन गई यह समझ में आता है कि कोई कृष्ण के वचन को सुन के कोई अर्जुन ज्ञान को उपलब्ध हो गया होगा लेकिन कसाई की बात सुन के बंजान ज्ञान को उपलब्ध हुआ कोई तार्किक हिसाब नहीं बैठता बिठाने की जरूरत भी नहीं जैसा बोधि वृक्ष वैसी कसाई की दुकान कोई फर्क नहीं कसाई के छप्पर में क्या खराबी और बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो किस लिए बैठे थे सिर्फ छाया के लिए कोई बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध होने को तो नहीं बैठे थे सिर्फ छाया के लिए कसाई का छप्पर भी उतनी ही छाया दे सकता है ज्यादा ठीक से दे सकता है और कृष्ण ने जो कहा कृष्ण के मुंह से जो बोला वही कसाई के ओंठों से भी बोल सकता है क्योंकि सभी ओंठ उसी के हो सकता है यह कसाई एक छिपा हुआ ज्ञानी हो इसकी पूरी संभावना है एक बहुत प्रसिद्ध कसाई की कथा है चीन में वो सम्राट का कसाई था और रोज आके सम्राट के लिए बैल काटता था सम्राट बड़ा हैरान था क्योंकि वर्षों से देखता था देखते देखते बूढ़ा हो गया था वो एक ही फरसा था उसके पास वो उस पर कभी धार भी नहीं रखता था और उसने कभी फरसा भी नहीं बदला और तीस साल से तो यही सम्राट देखता था वो बूढ़ा हो गया था लेकिन कभी उसके फरसे को उसने जानवर में अटकते नहीं देखा एक दिन उसने पूछा कि तू भी अद्भुत है तेरी कुशलता का कोई हिसाब लगाना मुश्किल तू कभी धार नहीं रखता और तू कभी फरसा भी नहीं बदलता तो उस कसाई ने कहा जो सिक्खड़ है उनको एक सप्ताह में धार रखनी पड़ती जो कुशल है उनको तीन सप्ताह में धार रखनी पड़ती लेकिन जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसको धार फिर कभी रखनी ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं बैल को काटता नहीं बैल और फरसे के बीच जो खेल चलता है मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं जब कोई काटता है तो फरसे को चोट मारता है जब कोई काटता है तो बैल और फरसे के बीच संघर्ष होता है उसी संघर्ष में धार मर जाती है मैं काटता नहीं मैं कौन हूं काटने वाला और बैल कटता नहीं क्योंकि इस जगत में कुछ भी नहीं कट सकता उस कसाई ने वही कहा जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा नैनम छिदंती शस्त्राणी न तो मुझे काटा जा सकता कोई अस्त्र मुझे काट नहीं सकता न आग मुझे जला सकती और अर्जुन को भी उन्होंने यही कहा था कि तू बेफिक्री से काट क्योंकि न कोई काटने वाला है न कोई कटने वाला एक का ही खेल है वही छिपा है यहां वही छिपा है वहां तो व्यर्थ की चिंता मत ले उस कसाई ने सम्राट को कहा कि मैं कोई काटने वाला नहीं हूं मैं कोई इस बैल से लड़ नहीं रहा हूं मैं कोई इसका दुश्मन नहीं हूं मैं कौन हूं बीच में आने वाला वही इसके भीतर वही मेरे भीतर वही काटता है वही कटता है तो बैल और मेरे फरसे के बीच एक तारतम्य है एक हारमनी एक लयबद्धता है फरसे और बैल के बीच दुश्मनी नहीं है बैल लड़ता नहीं फरसा काटता नहीं बस फरसा जगह खोज लेता है और बैल जगह दे देता है इसलिए धार मरती नहीं उस सम्राट ने कहा कि क्या यह कला तू मुझे भी सिखा सकता है उस कसाई ने कहा यह असंभव कला सिखाई नहीं जा सकती सीख सीखी जा सकती सिखाई नहीं जा सकती ये तो मैं अपने बेटे को भी नहीं सिखा सकता कोई उपाय नहीं सिखाने का क्योंकि कला के कोई गणित के फार्मूले नहीं महान से महान चित्रकार भी यह नहीं बता सकता कि उसकी कला क्या है वो चित्र बना सकता है तुम सीख सकते हो उसके पास बैठ के शायद जैसे इंफेक्शस बीमारी होती है ऐसे तुम उसकी कला को भी पकड़ ले सकते हो तो वही गुरु के पास बैठने का उपयोग है कि वो संक्रामक हो जाए बैठते बैठते बैठते तुम उसकी कला पकड़ लो लेकिन कला को सचेतन रूप से सिखाने का कोई उपाय नहीं कैसे सिखाएगा कोई चित्रकार की क्या है मेरी कला की कुंजी उसको खुद भी ठीक से पता नहीं वो खुद मौजूद नहीं होता यही तो कुंजी है जब वो बिल्कुल खो जाता है बनाने में तभी तो चित्र बनता है जब वो होता नहीं तभी तो चित्र बनता है उस कसाई ने कहा यह मैं सिखा ना सकूंगा लेकिन तुम चाहो तो सीख सकते हो गुरु सिखाता नहीं शिष्य सीखते गुरु बताता नहीं शिष्य समझते गुरु की मौजूदगी एक इशारा है शिष्य उसको संक्रामक बना लेते वे गुरु को पी जाते कसाई जिसने यह कहा कि मेरी दुकान में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है एक छुपा हुआ सूफी रहा होगा एक छुपा हुआ जिन फकीर रहा होगा यहां कुछ भी नहीं जो सर्वश्रेष्ठ नहीं इसने तो सारे जगत के संबंध में एक वक्तव्य दिया इसने कहा तेरी नजर की भ्रांति है यहां तो सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है और ये शब्द सुन के ग्राहक को तो ज्ञान ना हुआ ग्राहक तुम थे ग्राहक को तो ज्ञान ना हुआ ग्राहक ने तो समझा होगा कि बकवास कर रहा है व्यर्थ की बात कह रहा है सभी के अच्छे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है जाहिर है कि कुछ श्रेष्ठ होगा कुछ श्रेष्ठ नहीं होगा और अगर सभी सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ कहने का प्रयोजन क्या है श्रेष्ठता तो निकृष्टता की तुलना नहीं होती दुकानदार बेचना चाहता है मुझे कुछ भी इसलिए सभी को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है सभी दुकानदार बताते हैं ग्राहक ने तो समझा होगा धोखा देने की तरकीब है लेकिन बंजान जो राह से गुजर रहा था यह सुन के ज्ञान को उपलब्ध हो गए आखिरी दिन का ऊंट पे पड़ गया एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि जब नोह सारा संसार डूब रहा था महाप्रलय हो गई और नोह को परमात्मा ने आज्ञा दी कि तू हर जाति के पशु पक्षी हर कोटि के प्राणियों का एक एक जोड़ा लेके नाव में संभाल के उस जगह पहुंच जा जहां की प्रलय नहीं होगा एक पहाड़ की चोटी पर तो नो ने खबर की सारी प्रकृति में एक एक जोड़ा आ सकता है नाव में इतनी बड़ी नाव उसने तैयार रखी थी सब जोड़े आए लेकिन ऊंट तीन एकदम प्रवेश करने लगे तो नो ने कहा रुको तुमने सुनी नहीं खबर कि सिर्फ एक जोड़ा आ सकता ऊंटों ने कर हमारे मामले में तुम्हें थोड़ा अपवाद करना पड़े क्योंकि पहले ऊंट ने कहा कि मैं वही ऊंट हूं जो आखिरी तिनके से बैठ जाता है और अगर मैं ना रहा तो कहावत का क्या होगा दूसरे ऊंट ने कहा कि मैं वही ऊंट हूं जो कि सुई के छेद से गुजर जाए लेकिन धनी स्वर्ग के दरवाजे से नहीं गुजर सकता अगर मैं छूट गया कहावत का क्या होगा तीसरे ऊंट ने कहा कि मैं वही ऊंट हूं जिसको लोग देखते हैं कि देखो किस करवट बैठता है अगर मैं छूट गया तो लोगों को तापमान का पता चलना मुश्किल हो जाए कहते हैं नोह ने बड़ा सोचा बेचारा और कहा कि इन कहावतों के बिना तो आदमी चल ही ना सकेगा कहा कि अच्छा भाई तुम तीनों भीतर आ जाओ तुम्हारे लिए अपवाद उसमें पहला ऊंट वही था जिसके बाबत ये कहानी जिसने कहा कि आखिरी तिनके से जो बैठ जाता ये बंजान उस दिन उसी ऊंट की हालत में था आखिरी तिनके की तलाश थी और ठीक किया कि बाजार चला गया ठीक ही करता कहीं भी जाता कोई भी घटना घटना संयोगिक है आखिरी दिन का बन सकती थी एक कसाई की बातचीत क्या हुआ बंजान के भीतर जब उसने सुना कि कसाई कह रहा है यहां सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ ये तुम बात ही मत पूछो यहां कुछ हम बेचते ही नहीं जो सर्वश्रेष्ठ ना हो इसको सुनकर बंजान के भीतर क्या हुआ सारी कोटियां टूट गई मन की जैसे एक पर्दा हट गया तुलना मिट गई कुछ छोटा ना रहा कुछ बड़ा ना रहा कुछ बुरा भला ना रहा सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ हो गया कंकड़ पत्थर हीरे हो गए हीरे कंकड़ पत्थर हो गए जीवन मृत्यु हो गया मृत्यु जीवन हो गई साधु असाधु असाधु साधु हो गए सब मन की कोटियां डमाडोल हो गई एक महाप्रलय हो गया उस महाप्रलय में उसने देखा कि मैं खो गया मेरा मन खो गया यहां सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है मेरे पास लोग आते हैं उनकी चिंता स्वाभाविक है वो कहते हैं जब आप कृष्ण पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण सर्वश्रेष्ठ जब आप लाव से पर तो बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि लाव से सर्वश्रेष्ठ जब आप पतंजलि पे बोलते हैं तो लगता है पतंजलि सर्वश्रेष्ठ आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है और मैं उनसे कहता हूं इस दुकान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सर्वश्रेष्ठ ना हो सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा मन मानना मुश्किल करता है तुम्हारा मन कहता है अगर कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तो फिर बुद्ध कैसे हो सकते क्या कठिनाई है कृष्ण ने कोई ठेका लिया कृष्ण पर कोई चीज समाप्त हो जाती बुद्ध क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते तुम्हारे मन की कठिनाई साधारण है सभी मन की कठिनाई है बर्टन रसल ने लिखा है कि मैं घर तो ईसाई के पैदा हुआ हवा चारों तरफ ईसाइत की थी लेकिन परिवार नास्तिक था तो नास्तिकता साथ में पनपी और हवा चारों तरफ ईसाइत की थी तो एक ऐसी घड़ी आ गई कि मैं समझने लगा कि मैं ईसाई तो नहीं हूं और ईसाइत के खिलाफ भी हो गया रसल ने बड़ी कीमती किताब लिखी है why I am not a Christian बड़े तर्क बड़े विचार से लेकिन फिर भी रसल ने एक बात स्वीकार की है कि सब करने के बाद मैंने चारों तरफ देखा फिर कौन क्राइस्ट की जगह में किसको रखूं मन खाली खाली तो बुद्ध की प्रतिमा उभरी बुद्ध प्रीति कर लगे कीमती लगे बहुत कीमती लगे लेकिन मन में कहीं अचेतन पीड़ा होती है कि जीसस के ऊपर कैसे रखूं ज्यादा से ज्यादा करीब रख सकता हूं बस एक साथ रख सकता हूं यह पीड़ा क्या है रसिल की पीड़ा यही है कि उसने कसाई का वचन ना सुना वो उस दुकान से वंचित रह गया जहां ऐसी अद्भुत घटना बंजान को घटी एच जी वेल्स ने लिखा है कि गौतम बुद्ध से महान पुरुष पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं कृष्ण से महान पुरुष पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ फिर कहता हूं बुद्ध से महान पुरुष पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ महावीर से महान पुरुष पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ तब तुम अड़चन में पड़ोगे क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि तीन तीन महापुरुष और उनसे बड़ा कोई भी नहीं हुआ ये कैसे सही है यहां सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है निकृष्ट परमात्मा में पैदा ही कैसे हो सकता है निकृष्ट तुम्हारी ईजाद है उसने सभी सुंदर बनाया है कुरु तुम्हारा दृष्टिकोण है उसने सभी साधु बनाया है असाधु तुम्हारे नियमों के कारण पैदा हो गए तुम्हारी नीति नियम तुम्हारे शास्त्र उनके कारण असाधु पैदा हो गए उसने बुरा कुछ बनाया ही नहीं बुरा आदमी की खोज ये दिखाई पड़ जाए ये समझ की बात नहीं है दिखाई पड़ने की बात है और दिखाई तब पड़ेगा जब तुम्हारे ऊंट पर पूरा वजन होगा उसी वजन को रोज रखते जा रहा हूं रखते जा रहा हूं किसी दिन आखिरी दिन का पड़ेगा कब पड़ जाएगा कोई भी कह नहीं सकता उसी दिन ऊंट बैठ जाएगा और जिस दिन तुम्हारे मन का ऊंट बैठेगा उस दिन तुम देखोगे कि जगत इतना हरा है इतना सुंदर है इतना ताजा है इतना नया है अभी अभी पैदा हुआ है जैसे सुबह पड़ी ओस की बूंद हो कि पहली सूरज की किरण हो इतना ताजा है जरा भी बासा नहीं और सभी कुछ ताजा है कुछ भी बासा नहीं और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस छोर से लेकर उस छोर तक सभी सर्वश्रेष्ठ मन को जो मिटाएगा उसे यह दिखाई पड़ेगा तुम ध्यान किए चले जाओ आज नहीं कल किसी बाजार से गुजरते समय किसी कसाई की बात सुनकर अचानक जैसे बिजली कौन जाए अंधेरे में और सब कुछ दिखाई पड़ जाए जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था ऐसा ही तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा लेकिन बाजारों में घूमने से ना होगा ये बाजारों में तो तुम घूम ही रहे हो जन्मों से कसाइयों की दुकानों के पास खड़े होने से भी कुछ ना होगा वहां ये चर्चा भी चल रही हो तो भी ग्राहक तो वंचित ही रह गया जिससे चर्चा हो रही थी और जिससे कोई बात ही नहीं हो रही थी वो तो राहगीर था वो उपलब्ध हो गया असली बात है तुम्हारा श्रम इतना हो जाए कि तुम बिल्कुल टूटने के कगार पर हो तब यह भी हो सकता है कि यह कसाई कोई ज्ञानी ना रहा हो यह सिर्फ एक पक्का दुकानदार हो यह कसाई सिर्फ दुकानदार की भाषा बोल रहा हो ज्ञानी की नहीं यह भी हो सकता है कि इस कसाई को तो हर चीज बेचनी हो इसलिए हर दुकानदारी कहता है कि हमारे लिए तो सभी सर्वश्रेष्ठ तुम जो कहो वही सर्वश्रेष्ठ है जिसको बेचना है उसके लिए सभी सर्वश्रेष्ठ है शायद ये सिर्फ एक दुकानदार रहा हो एक अच्छा सेल्समैन इसको न ज्ञान से कोई संबंध हो न इसने जो कहा है उसकी अंतिम अर्थ का कोई संबंध हो तब बात और मचिकी हो जाती है जिसने कहा वो अज्ञानी है जिससे कहा वो अज्ञानी है और दो अज्ञानियों के बीच बातचीत का टुकड़ा तीसरे के लिए ज्ञान बन गया ये भी हो सकता है बंगाल में एक बहुत बड़ा संत हुआ बूढ़ा हो गया था कामधाम से रिटायर हो गया था सुबह घूमने निकला था उसके घर का नाम राजा बाबू था और कोई स्त्री किसी मकान के भीतर अपने बेटे को अपने देवर को या किसी को उठा रही थी उसका नाम भी संयोग की बात के राजा बाबू होगा राजा बाबू बहुत होते तो वो कह रही थी भीतर की राजा बाबू उठो सुबह हो गई अब कब तक सोए रहोगे और ये बूढ़ा राजा बाबू बाहर से अपनी लकड़ी टेकता हुआ घूमने जा रहा था दरवाजा बंद था भीतर की स्त्री को इसका कोई पता ही नहीं इससे कोई संबंध ही नहीं ये संयोगिक है इसका गुजरना वो अपने किसी बेटे को देवर को उठा रही को उठो राजा बाबू सुबह हो गई कब तक सोए रहोगे और ठिटक के ये बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और इसके कान में आवाज पड़ी सुबह हो गई कब तक सोए रहोगे उठो राजा बाबू कहते हैं वहां से वो घर न लौटा वहां से वो गांव के बाहर एक मंदिर में चला गया घर के लोग समझाने बुझाने आए तो वो हंसता था और एक ही बात दोहराता था कि उठो राजा बाबू सुबह हो गई अब कब तक सोए रहोगे अब बस बहुत सो लिए तो ये जरूरी नहीं है कि दुकानदार ज्ञानी रहा हो तब एक आखिरी बात ख्याल ले लो अज्ञानी भी तुम्हें जगा सकता है अगर तुम्हारी जगने की तैयारी पूरी हो गई और ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं शायद आखिरी बात तुम्हारी तैयारी की कई बार ऐसे गुरुओं के पास लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं जो गुरु खुद ज्ञान को उपलब्ध न थे इसलिए तुम इसकी चिंता ही मत करना कि गुरु को ज्ञान मिला है कि नहीं गुरु अज्ञानी थे और उनके पास लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनकी तैयारी थी इससे उल्टा तो रोज ही घटता है कि ज्ञान को उपलब्ध गुरु के पास सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं कुछ भी उनके जीवन में क्रांति नहीं होती उनकी कोई तैयारी नहीं अंतिम निर्णय तुम्हारी तैयारी से होगा अपने को पूरा लगा दो ताकि ऊंट आखिरी तिनके की चोट से किसी भी दिन बैठ जाए बचाया कि चूके बचाना मत तब किसी भी बाजार में कोई भी शब्द का टुकड़ा अनायास कहा गया वेद बन जाता है अन्यथा तुम्हारे कान में कोई वेद गुनगुनाता रहे तुम्हें तो सिर्फ बिनबिनाहट मालूम पड़ती तुम सब सब शब्दों की बकवास है आज इतना ही